सूर्य की तरह उसको पहले भगवान ने प्रकाश कर दिया बहुत जल्दी भगवान ने धनुष्पाण चढ़ा करके अग्निबाण छोड़ा और वो जैसे अग्निबाण आकाश में गया तो उसमें ज्वारा प्रकट होने लगी और प्रकाश हो गया सात युद्ध क्षेत्र में सब जगह को प्रकाश था गया और प्रकाश में सब दिखाई देने लगा मैंने अंधकार मिट गया और प्रकाश दिखाई देने लगा तो बस जहाँ प्रकाश हो गया तहाँ पांडवों को शक्ति आ गई उनको दिखाई देने लगा निशाचर्य और ये अंधेरे में इनकी शक्ति बढ़ती है सुविधा तो हो गया निशाचर कमजोर पड़ने लगे एक तो ये जिन निशाचरों ने अंधकार फैलाया था वो लोग स्वयं डर गए हमने तो हमें जितने तो बल था कि हमने अंधकार फैलाया था और जो तो इतना उजेला होगा कि कई बार में क्षण मात्र में इतना प्रकाश था ये अंधकार बच्चे घेरने लगे ऐसे करके जब उन्होंने देखा तो वो आश्चर्य चकित रह गए भय प्रकाश कतम तम नहीं इतना प्रकाश हो गया अपने अग्निबाण में कि कहीं अंधेरा नहीं क्या प्रकाश अब ये ये प्रकाश का तात्पर्य है चेतना का प्रकाश ज्ञान का प्रकाश वो ज्ञान भी व्यक्ति के अंदर प्रकाश उत्पन्न करता है जैसे सूर्य का प्रकाश दिन हो गया तो सब दिखाई देने लगता है ऐसे ज्ञान के प्रकाश में जो वस्तु जैसी है वैसे दिखाई देने अज्ञान में जैसे विषय है अज्ञान में ऐसा दिखाई देता है जो सुखदायी हालांकि उनमें सुख कुछ नहीं है लेकिन अज्ञान का प्रभाव ये है कि तो वो सुखदायी लगते शब्द रूप रसगंध इत्यादि लोग कहते हैं सुखदायी जो तो है मतलब संगीत प्रिय तो लगता है सुंदर रूप प्रिय तो लगता है सुंदर पाठ प्रिय तो लगता है ये सब लोग कहते हैं लगता है लेकिन तो लगता कैसे है अज्ञान के अंधकार में लगता है यदि ज्ञान होते हो तो फिर ये दिखाई दे रहे हैं ये जैसे जल पदार्थ है भला तक तो हो ही जा सकता है अब ये सुविधा हो ही कैसे सकता है जहाँ ये दिखाई देने लगा तो ये दिखाई दे तो कि जितने विषय है उनमें कोई सुख है सब तो एकमात्र परमात्मा में ऐसे दिखाई देने लगता है तो जो वस्तु जहाँ है जैसी है वो ज्ञान के प्रकाश में दिखाई अब ज्ञान में अन्यथा दिखाई देता है तो वैसे ही बता अब आकाश में छात्रों ने रक्त की पीने की वर्षा की लेकिन मानवों को लगता है मानव रक्त बरस रहा है मानव तीन बरस रही है लेकिन वहां नदियों लगे लोग इस प्रकार तो भ्रांत उत्पन्न करती इस प्रकार तो ये तो इसीलिए अब क्या कहते हैं तुलसीदास तो जी की भय प्रकाश कथम कमनाही ज्ञान उदय दिव संशय जाही बस यहाँ उनको साफ कर दिया तुलसीदास जी सूर्य वराहन इंडिया जो यहाँ युद्ध का वर्णन दोनों तरफ कर रहे हैं तो उन्होंने भी उसका आध्यात्मिक रात तो बता दिया बस ये समझो भगवान राम की सेना जो ज्ञान का पक्ष है अन्य शास्त्रों की सेना जो है वो अज्ञान का पक्ष और ज्ञान अज्ञान का युद्ध है ये जो मानव सेना भाल सेना है ये ज्ञान के प्रकाश में सत्गुण प्रभावित और मनुष्य सेना मतलब दैवी संपत्ति की सेना है शास्त्री सेना अज्ञान का फल प्राप्त करके माया जाल रखने वाली भ्रांत उत्पन्न करने वाली संसद उत्पन्न करने वाली निशाचरी सेना है भय प्रकाश कतु तम नाही ज्ञान उदय जमा संशय जाहे ज्ञान के प्रकाश में सारा संशय निकल जाते हैं यहाँ ज्ञान से तात्पर्य परमात्मा ज्ञान से अपने शास्त्रों में जहाँ ज्ञान आता है वो लौकिक ज्ञान नहीं परमात्मा का ज्ञान आया तो परमात्मा के ज्ञान में से तो संसार भी जैसा है वो ठीक ठीक जैसे लगता है हम वैसे संसार को जगत को अन्यथा मानते रहते हैं ऐसे कुछ समझते कुछ रहते हैं जैसे तो रस्सी को तो सर्व समझ रहे हैं इसी तरह से समझते हुए इस जगत में रहते हैं जीते हैं अब जो रस्सी को भी कोई सर्व का समझता है जब कुछ अंधेरा हो अगर खूब उजेरा हो दोपहर के समय रस्सी रस्सी दिखाई देगी वो कुछ सब थोड़ी दिखाई देगी वो तो जब संध्या काल हो अंधकार हो तब उसमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे तो मालूम पड़े करे ये सब सर्प रस्सी है कि सर्प सर्प का संशय हो सर तो इसी तरह की जगत ज्ञान की अवस्था में जगत सुखदायी सुखदायी बंधनकारी जन्म चुकारी पीड़ादायक समस्याएं उत्पन्न करने वाला ये सब है जैसा ज्ञान में और जहाँ ज्ञान का उदय हुआ कि एक परमात्मा ही सर्वत्र है वहाँ न जगत रह गया न संसार रह गया न कहीं इसकी जो है दुखदायी प्रभाव इसका सुखदायी प्रभाव इसका वो भी नहीं रह गया ये सब मिल करके सब तरफ से स्वस्थ शांत निर्मल आत्मज्ञान प्रमाण करना विश्राम शांति सुख बस यही सीख रह जाता है बस यही ये युद्ध का अंतिम परिणाम यद्य ये पहले दिन का युद्ध चल है इस प्रकार से तुलसीदास तो जी ने कई दिन का युद्ध इस प्रकार से वर्णन किया है <coughs> वैसे ये युद्ध हुआ है सत्ताईस दिन तक दो घंटा युद्ध चला लगातार युद्ध रहा रोज रोज रोज रोज युद्ध होता रहा लेकिन इस युद्ध का परिणाम क्या है युद्ध का परिणाम अंत में यही होता है भगवान राम की वजह होती ज्ञान जागृत होता है अज्ञान मिट जाता है और ज्ञान के साथ निशाचरी प्रवृति भी मिट जाती है तो भागपति मुख पाई प्रताता और धाये हर्ष विगत क्रमता था भालुओं ने परी मुख्य माने मानव ने मानव भालुओं ने पाई था जहाँ प्रकाश हो गया तो उनको क्या हुआ था ये विगत क्षमता था बस वे बड़े प्रसन्न हो गए और सब तौड़ पड़े युद्ध करने में छात्रों को आक्रमण करने लगे विगत श्रम उनकी थकावट पर दूर हो गई परेशानी खत्म हो गई और भाई भी उनका जाता रहा फिर निर्भय हो गए प्रशक्ति आ गई और आक्रमण करने लगे छात्रों पर हनुमान जागे अब युद्ध क्षेत्र में अब तब हनुमान अंदर भी ये भी पहुंच गए और इन्होंने भी अपनी गर्दना की ललकारा में निशाकरण को कहा कि तुम तो पराजित हो गए थे भाग गए थे अब हाथ में ताकत आ गई ऐसे करके जो है उनको फिर ललकारा तब फिर निशाचरण से युद्ध करने लगे आंख सुन कर नहीं कर भागे और जहाँ देखा कि हनुमान और अंदर आ गए कहा निशाचरों ने तो भाग करेंगे हाँ अब उनको ये लगा कि ये तो अभी ये पानी ही थे हनुमान अंदर तो निकल गए चले गए थे तो ये भी निशाकर समझ रहे थे अंदर हनुमान चले गए ये बड़े शक्तिशाली है ये मोर्चा सामने रहते हैं और इसके कारण से फिर हमारी युद्ध लीला भाई चलती नहीं है हमें हमारे इनके ऊपर कोई पद चलता नहीं जब देखा अंदर हनुमान चले गए तो चंद्र शक्ति आ गई अब वो फिर आ गए फिर आ गए तो फिर उनको फिर वो भागे फिर निशाकर उनको जीत कर दिया बार बार कहने की आवश्यकता नहीं एक बार इनका सबकी मन में अपने इनके व्यक्त बना लें कौन किसका प्रतीक है और बस उसी प्रकार से अपने अंदर देखते रहे कि इस प्रकार से क्या होता रहता है कभी कभी इस प्रकार से अपने साधकों के मन में ये होता है जहाँ संसार व्यवहार में पड़े और अज्ञान उनको छा गया कहा वो हो और विश्वास जहाँ संसार में पड़ गए तो परमात्मा का विश्वास कम हो जाता है उधर ध्यान नहीं गया विश्वास व्यक्ति के अंदर फिर आ गया कि हमारे ये मित्र हैं ये परिवार के हैं ये धन है ये संपत्ति ये सब हमारे सहायक हैं इनसे हमें बल प्राप्त होगा इन्हीं से हमारा जीवन ये बात जहाँ व्यक्ति के अंदर आ गई इसके माने है कि यह है अंगद और हनुमान भाग गए छोड़ गए अगर फिर व्यक्ति को याद आ जाए चेहरे पर परम परमात्मा सर्वशक्तिमान है वही अपना जो स्वरूप है काम बोझा में पड़े जा रहे हैं तो इसके बाद हनुमान जी करा रहे परमात्मा का विश्वास फिर हृदय में जागृत हो जाए इसके माने हनुमान जी का फिर आ जाता है तो ये देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर ज्ञान वैराग्य परमात्मा का विश्वास ये जब हृदय में बने रहते हैं तो ज्ञान बना रहता है और ज्ञान बना रहता है तो वो व्यक्ति जो है इनकी निशाचरी सेना अज्ञान की जितनी सेना है उनसे टक्कर लेती रहती है उनको समाप्त नष्ट करती रहती है तो हाथ सुनकर रजनी कर भागे निशाचर लोग भाग खड़े हुए हनुमान जी के यहाँ चलाने तो भागत फट फट कहीं घर धरने और भागत फट फट कहीं घर धरने और कहीं भालू कभी अद्भुत करने और जहाँ निशाकर भागते हैं तो उनको बानर लोग उनको भागते हुए बानरों को उनको निशाकरों को पकड़ लेते हैं और पकड़ करके उनको जमीन में पटक देते हैं कहीं भालू कभी अद्भुत करनी इस प्रकार से बानर और भालू बड़ी विचित्र लीला करने लगे अद्भुत कह रहे हैं कि माने जो कि साधारण से कोई नहीं कर सकता वैसे करेंगे इन निशाचरों को पकड़ना इनको मारना साधारण बात नहीं है लेकिन जब प्रकाश आकाश में हो गया और को शक्ति आ गई तो फिर औसत और जबकि संध्या काल दिन भर के इतना युद्ध करने से थके हुए और फिर उनमें आ गया तो फिर देखो वो अद्भुत कार्य करने लगे सत्य लोग तो वही पदकार रहे सागर माही अद्भुत करनी एक बात इस बात की भी सूचना है कि वैसे तो संसार में जितने प्राणी हैं वो सब अज्ञान में ही घिरे हैं और नाना प्रकार के दुख के चिंता भय आपसे व्याकुल है अज्ञान का जो निशाचरण का जितना की सेना निशाचरी सेना है वो जीव को पीड़ित करती रहती दुखी करती रहती है लेकिन यदि जीव परमात्मा के संग में जाए और दैवी संपत्ति जागृत हो परमात्मा का विश्वास हो वैराग्य आवे ज्ञान जागृत हो और उसको इन शास्त्रों से युद्ध करने की क्षमता आ जाए तो समझो ये कि अद्भुत कार्य गीता में भगवान वर्णन करते हैं कि देखो ये तो अध्यात्म विद्या ऐसी है की बड़ी अध्यात्म विद्या अद्भुत है संसार में जिरला ही व्यक्ति से सुनने को पाता है और सुन करके जिरले ही व्यक्ति उसको समझ पाते हैं और सुनने वाले व्यक्तियों में भी कुछ को समझ में आता कुछ को समझ में नहीं आता जीवन में इसका प्रभाव बहुत मुश्किल में दिखाई देता है जिन लोगों के जीवन में अध्यात्म विद्या का प्रकाश दिखाई दे वे तो संसार में अद्भुत व्यक्ति है साधारण व्यक्ति हैं अद्भुत व्यक्ति बहुत ही रेयर प्रकार के व्यक्ति होते हैं तो इसलिए कहते हैं कि यह है कि करें भालू कपी अद्भुत करनी और गही पद डार सागर मासी ये अद्भुत करनी कानून दिखाई कि इन बानरों को उठा इनको निशात्रों को उठा करके ये बानर उनके पैर पकड़ के घुमाते हैं फेंक देते हैं समुद्र में जान देते मतलब पास ही समुद्र है और वहाँ उसके लंका के भीतर युद्ध हो रहा है और तो समुद्र है समुद्र के किनारे तो ये सब फेंक देते हैं तो समुद्र में जाके गिरते और समुद्र में गिरते हैं जाकर के निशाचर से इनका क्या होता है कि मकर उरज थक घर खाही समुद्र के जितने ये है मगर इत्यादि उड़क मन सर्फ दस मछलियाँ जो मछलियाँ खा जाती है तो मछलियाँ खा जाती है उनको मगर खा जाता है तो मगर खा जाता है सर्प उनको मिल जाते हैं ये निशाचर तो सर्प खा जाते हैं अब ये दिखाते हैं कि जो समुद्र रावण और उनके निशाचरों की रक्षा करता रहा इनके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता था किले के चारों तरफ खाई का काम समुद्र करता था अब वही समुद्र और उसके जीव जंतु अब निशाचरों को खाए जा रहे ये अद्भुत करनी है ये जो देहाभिमान है ये लंका है जहाँ युद्ध हो रहा है ये समझते हैं कि देह ही मैं हूँ किसी का नाम लंका है अभी दूसरे राज्य ने सब प्रतीकों को बिना पत्रिका में एक पद है उसमें सब गिला दिए हैं उस पद में बिना पत्रिका में सबका वर्णन है यहाँ भी जहाँ तहाँ रामायण में भी उनके संकेत दे दिए जैसे ये शुरू हुआ लंका कांड शुरू हुआ तो शुरू शुरू में कह दिया लव निमेश परमाण जो कल्प पर सरचंद ये सब जो है ये क्षण दिन महीना साल वर्ष कल्प युग ये सब बाण और काल जात को दंड और भगवान का कोदंड मन धनुष उनका काल है तो बस समझ लो भगवान के बाण चलते तो कौन बाण चल रहे हैं ये काल जो है सबको खा जाता है भगवान जो है काल जो है इनको सबको प्रेरित करता है सबका विनाश कर देता है इस प्रकार तो ये जगह जगह इस प्रकार के प्रतीक बताते रहते हैं बोलते रहते हैं तो यहाँ पर भी ये कहते हैं कि जो है ये शरीर रूपी जो है लंका देहाभिमान रूपी लंका इसमें जो ये सब इनका इनका युद्ध चल रहा है और व्यक्ति जो वो अपने आप की अपने देहाभिमान की रक्षा करने के लिए व्यक्ति फिर धन संपत्ति परिवार आदि का चार कर इकट्ठा करता है अपने शरीर की रक्षा करने के लिए क्योंकि शरीर ही अपना रूप है अपना स्वरूप सत्ता है और शरीर की रक्षा भी करना मानो परम धर्म है तो उसके लिए फिर बाहरी वस्तुएं चाहिए व्यक्ति को धन संपत्ति चाहिए वो सब समुद्र की किले बंदी की तरह से उनको इकट्ठा करता रहता है हाँ? अब ये सूक्ष्म माता थोड़ी इसलिए स्थूल ध्यान देने पड़ते हैं उनको प्रतीक स्थूल बनाने पड़ते हैं ऐसा करके कहते हैं तो गई पददार सागर माही मकर उरज छत धरी धरे खाही अब कहते हैं कछु मारे कछु घायल कछु गड़ चढ़े पराय अब कहते हैं इस प्रकार से अब निशाचरों का क्या हुआ तीन भागों में बट गए कुछ तो निशाचर मारे गए कुछ निशाचर भाग गए और कुछ निशाचर जो है किले के ऊपर दौड़ करके चढ़ गए कछु मारे हाँ कुछ निशाचरों को जिस प्रकार से इन्होंने मारा तो इनको निशाचरों को उठा करके समुद्र में फेंक दिया तो मर गए और कटु घायल कुछ निशाचर जब घायल हो गए तो इनको पत्थर मारे पेड़ मारे नाखूनों से नोचा तो निशाचर लोगों के शरीर से रक्त बहने लगा हाथ पे टूट गए और घायल हो गए और कटुगढ़ चले पड़ा है और कुछ जो ऐसे थे घायल जो थे वही युद्ध क्षेत्र पड़े हुए मर गए वो भी पड़े हुए हैं अथवा समुद्र फेंक गए और जो कुछ जीवित बचे जो घायल नहीं हुए मरे नहीं और घर खड़े हुए तो उन्होंने क्या किया दौड़ करके जल्दी से किले के ऊपर चढ़ गए <clears throat> कचुगढ़ चढ़े पराए पराए मतलब भाग करके जान बचा करके किले के ऊपर जा चढ़े अब गर्ते भालू बली मुख रिपु दल बल भी चला है इस प्रकार से निशाचर लोग जब पराजित हो गए तब इन्होंने ये बारह भालुओं ने गर्जना की अब क्योंकि ये विजयी हो गए निशाचर भाग गए तो विजय का डंका बजाने के लिए इन्होंने इन्होंने गर्जना की भालू बली मुख बली मुख बानर हो गए रिपु दल बल है सत्र सेना के बल को बल के माने उनकी शक्ति सेना उनकी समस्त सेना और उनकी शक्ति को विचलित कर दिया नष्ट भ्रष्ट कर दिया ये दशा हो गई अब इस प्रकार से आज का युद्ध यहाँ आकर के समाप्त होता आकर के जब ये आकर पराजित हो गए <clears throat> आगे देखिए निशा जाने कपिकारिणी आए जहाँ को धनी राम कृपा करी सवा सबही भय विगत सब बानर सबही भात सचिव कार्य सब सन कैसे सुबह मारे आधा कटक कपिन संहारा तो वेग का करिए विचारा माल्यवंत जरठ निशाचर रावण मात पिता मंत्री वर बोला वचन नीते पावन सुनऊ दात कछ मोर सिखावन जब ते तुम सीता हरियाणी असगुन हो न जाई बखानी वेद पुराण जाप जस गायो राम मुख का हुन सुख पायो हृणयाथ भ्राता सहित मधु कही जब बलवान यही मारे सही अवतरे हो कृपा सिंधु भगवान काल रूप खल बन दहन गुणागार गन बोध सिर जे से वही तासों कवन विरोध रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय निशा जाने का पितारी बनी अब कहते हैं देखो अब रात्रि जब हो गई तो अब तो रात्र हो ही गई इतना जब युद्ध हुआ तब समझा काल के बजाय रात्रि आ गई अंधेरा हो गया तो कपि कार्यवनी बानरों की जो चार सेनाएं टुकड़िया बनाई गई थी वो चारों टुकड़िया वहाँ से अपने लोग चली आए जहाँ कौशला धनी जहाँ भगवान श्री राम जी थे वहाँ ये सब सैनिक सेनापति और जितने और मानव थल सेना थी वो सब जहाँ भगवान थे वहाँ लौट आए राम कृपा कर चितवा सबही भगवान श्री राम जी ने अपनी कृपा जैसे सबके ऊपर डाली भय जगत श्रम बानर ही सब बानर जो है भगवान की कृपा दिपा करके दिन भर के थकान वकान सब उनकी मिट गई ये बार बार बताते रहते हैं कि देखो जीव का जो श्रम है वो तभी तक है कि भगवान के निकट वही पहुंचा भगवान के निकट पहुंचे भगवान का स्मरण करे ध्यान करे भगवान की कृपा प्राप्त हो तो उसका सारा श्रम दूर हो जाए श्रम किस बात का जीव के लिए कि चिंता है भय है अशांति मन की है ये सब उसकी जो समस्याएं हैं ये सब जीव की है वही उसको श्रम दे रही परेशान कर रहे हैं तो सब परेशानियां वहाँ समाप्त हो गई जहाँ भगवान के सामने गए और उनको विश्राम मिला मैंने सुख प्राप्त तो भाई विगत सर्व बानर तब ही और वहाँ दशानंद सचिव हकारे ये तो इधर की बात हो गई अब रावण तो वहाँ मैंने उधर की तरफ देखो अब तुलसीदास जी खड़े कहाँ से देख रहे हैं जहाँ भगवान राम वही तुलसीदास जी वही समय दिखाई देता है तो यहाँ के माने जहाँ भगवान राम और बानर सेना वो तो यहाँ है और वहाँ के माने वो जहाँ निशाकर रावण है और जहाँ उनकी सेना है वो वहाँ है मैंने दूर की बात है वहाँ की बात बताते वहाँ तो शांत में छठे वहाँ तारे वहाँ जहाँ रावण है <clears throat> वहाँ पर रावण ने क्या किया सत्य वकारे मैंने मंत्रियों को बुलाया और रात्र में ही सभा इमरजेंसी मीटिंग हो रही अब रात्र में ही सभा होगी वैसे तो रावण जितने मंत्री बैठता था आगे दरबार में जाकर के बैठता था और दिन में उसकी सभा हुआ करती थी लेकिन अब दिन में तो युद्ध होगा और रात हो गई युद्ध करते करते तो अब दूसरे दिन सजे से युद्ध करना है तो तब आगे के दूसरे दिन से प्लानिंग करनी तो वो कब हो रात्र में हो इसलिए रावण ने रात्र में मंत्रियों को बुला करके सभा बनाई और सर्वसन का इस सुबह जो मारे और रावण को जो कुछ अपने मंत्रियों से राय मशुरा करना था तो पहले अपनी स्थिति उसने बताई रावण ने कहा कि देखो आज के दिन इतने इतने जो है वो सैनिक मारे गए जितने इतने सेनापति थे वो मारे गए मुख्य मुख्य जो महामुखिया थे वो भी इतने मार दिए गए अब देखो रावण को वैसे चाहिए तो मंत्रियों से पूछता कि क्या आज आज का युद्ध कैसा रहा लेकिन रावण तो युद्ध तो क्षेत्र में स्वयं खड़ा हुआ देखा था और मानव लोग उनके मुखिया लोग उनके सब तोड़ तोड़ करके रावण के सामने फेंक देते रावण के देखते देखते मानव लोग जाइए निशास्त्रों को उठा करके फेंक देते तो भगवान के पास जाकर देते तो रावण को सब देखा हुआ अपनी आंखों से कितने लोग मारे गए हैं इसलिए वो मंत्रियों से पूछता नहीं है बल्कि मंत्रियों को बताता है कि आज के युद्ध में कौन कौन लोग मारे गए तुमको मालूम होना चाहिए आधा कटक पद संघारा और कहा कि इन्होंने बानरों ने हमारी आधी सेना को मार दिया यादी और कहो वेग कहा करिए बेचारा अब बताओ कैसे धोना चाहिए कल से युद्ध हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए क्या युक्ति करें तो ये विचार शुरू हुआ रंग अब विचार करने में और मंत्री क्या बतावे वो तो बोल नहीं पाए माध्यम के एक मंत्री जो है वो हो बहुत ही सीनियर मंत्री है वो फिर रावण को अपनी सम्मति देता है कौन है ये इसका नाम माल्यवंत है माल्यवंत का परिचय पहले भी हो चुका जब विभीषण ने आकर के कुछ समझाया रावण को और रावण विभीषण पर नाराज हुआ और विभीषण चला गया तो माल्यवंत ने भी रावण को समझाया तो उस समय भी ब्राह्मण ने माल्यवंत का निरादर करके उससे कह दिया कि भगवान को कहा आ गया इसको ऐसे करके माल्यवंत को भगा दिया था उसी माल्यवंत को माल्यवंत उस समय तो उससे चला गया बीजेपी करा के अपने लेकिन उसने कहा कि हम तो मंत्री इसके हैं हमारा धर्म ये है कि अपनी बेजती हो तो भी कोई बात नहीं हमें सही रास्ता राय राजा को देनी चाहिए अपना धर्म समझ करके फिर दरबार में आता है और इस बार फिर उनको रावण को समझाता है माध्यमन <clears throat> ये समझता है कि रावण जब युद्ध करके एक बार देख लेगा और उसको ये पता चल जाएगा कि हमारी शक्ति कितनी है तो उसको थोड़ा सा किसी की बात सुनने की शायद क्षमता आ जाए विचार आ जाए कि भाई अब तो माल्यवंत की बात सुननी चाहिए ऐसा भरोसा रख करके माल्यवंत उनको समझाता है माल्यवंत कहता है माल्यवंत अभी जरक निशाचर मालवंत तो वृद्ध भी बहुत आयु बहुत उसकी है और निशाचर वंश का है ही है निशाचर वंश के माने ये कि रावण की ये रावण मातु तो पिता रावण की माता का ये पिता है और मंत्री वर और मंत्रियों में सबसे बड़े पद के ऊपर है चीफ मिनिस्टर सबसे बड़ा मंत्री है और फिर उसके साथ में ये उसका संबंध भी है इस प्रकार का कि ये रावण की माता का पिता है इसकी माता रावण की माता निशाचरी थी पिता तो साधु था समस्ती था ऋषि था रावण का लेकिन मां निशाचरी थी और उस निशाचरी माँ का जो पिता था ये माल्यवन देवी निशाकर वंश का था लेकिन था समझदार ये निशाचर वंश का होते हुए भी इसको शब्द बुद्धि आ गई थी परमात्मा को जानता था भगवान राम को ये पहचान गया था ये सब बातें इसमें आ गई थी तो ये मंत्री और रावण की माता पिता मैंने नाना पद उसका और निशाचर वंश का है ये और बहुत गरक ये चार बातें उसके मालवंत के संबंध में परिचय उसका है कि मालवंत कौन है अति गरक निशाचर रावण माता पिता और फिर उसके बाद मंत्री गए मालवंत हुलाबचन ऐसा माल्यवंत जो था उसने रावण को सलाह देना प्रारंभ किया नीति अति पावन उसने बड़ी ही पवित्र नीति बताई और नीति के साथ साथ साथ पावन एक विशेषण लगाया माने नीति तीन प्रकार की होती है अपावन नीति पावन नीति अति पावन नीति अपावन नीति जैसे कोई व्यक्ति किसी से डर मानता है तो उसको गलत राय देता है मानो किसी व्यक्ति की किसी से लड़ाई हो गई और खुद ही उससे मन से मन से उसके प्रति व्यवहार रखता है तो उसको राय दिन अरे देखो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करता है और तुम सहन कर देते हो अरे अरे कहा वो तो बड़ा सत्यशाली उसे मारा गया अरे हम हाँ, है तुम्हारे साथ देने के लिए और तुम्हारे साथ देखो दुनिया भरे कितने लोग हैं हाँ, तो ऐसे करके ये राय देना इस प्रकार की और कपट रखना मन में ये अपावन नीति तो इसलिए जानना चाहिए कि नीति किस प्रकार की है ये सब शास्त्र सारी व्यवहारिक बातें भी डे टू डे की बातें है वो भी सब समझाता है रावण नीति पावन नीति है पावन की मैंने सही सलाह देना संसार की दृष्टि से जब सही राय देना तो देखो व्यवहार में किसी से बैर करो तो बराबर कहो उससे बैर करो प्रीति करो बराबर पानी से पैर प्रीति करो ये पवित्र नीति है लौकिक है लेकिन पवित्र नीति मैंने सही रहा है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से डर हुआ तो कहा कि देखो ये तो तुमसे बहुत शक्तिशाली है इससे तुम्हें डर नहीं करा दी अगर तुम्हें डर ही करना झगड़ा किसी से करना तो तुम्हें बराबर वाले झगड़ा करो तो, तो ठीक के पास भी पा जाओ ऐसे करके अगर कोई राय देता है तो ये अपावन नीति नहीं है पावन नीति और झगड़े से बचाता है तो भी पावन नीति लेकिन ये सब विचार लौकिक दृष्टि का है और अति पावन नीति क्या है जब नीति के साथ में परमात्मा जो ये जाने कि जिस विचार में परमात्मा का विभाव हो अरे ये तो सारा संसार है इसमें कहा राज देश में पढ़ो किससे झगड़ा करो किसे खिलाप करो किसे प्रेम रखो किससे देश रखो ये सब तरह की बात है परमात्मा से अपना संबंध जोड़ो और संसार के दुनिया भर के झगड़े में कहीं न पड़ो ये चिंता के भय से मुक्ति पाओ ये परम पवित्र नीति है ये पारमार्थिक नीति है भगवान के लिए दिए ज्ञान सीखो भक्त सीखो जीवन वैरा चलाओ श्रेष्ठ बनो ये परम पवित्र नीति इस प्रकार की अगर कोई शिक्षा देता है तो ऐसे परम पवित्र नीति है वो <clears throat> ये बताता कि बोला वचन नीति अति पावन परम पवित्र पावन नीति माल्यवान ने बतानी शुरू की कि सुनो दात कछ सिखावन और कहा देखो हम कुछ बताते हैं आपको अपनी राय वो शिक्षा देते हैं उसे आप सुनो क्या कहते हैं कि जब ते तुम सीता हरियाणी असगुन हो न जाए बखाने तो जैसे तुम सीता ही धारण करके लाए हो तब से सब जितने भी है संकेत अब सगुन के ही मिलते हैं ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके विनाश की ओर हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं अब सपन होने के माने कि हाँ जैसे रामचरित मानस जगह जगह अब शकुनों का वर्णन आया जैसे गधों का बोलना है दिन में ही आधी तूफान इतना अधिक चलना कि जो उसमें और इतना ज्यादा धूल धक्कर का गिरना ने जो समय में बरसा होना जबकि ऋतु नहीं है तो बिना ऋतु के पानी का बरसना अब है इस प्रकार तमाम अब तो वो कहते हैं इस प्रकार के सकुन जब से हो रहे हैं और ऐसा मालूम पड़ता है सब विनाश की ओर जा रहे सपने भी दिखाई देते हैं तो भयंकर सपने दिखाई देते हैं ये कहते हैं वेद पुराण जात जस गाय अब वो बताता आप सकुन हो रहे हैं इसके हमारे विनाश की तरह बढ़ रहे हैं तो बचना चाहिए अब भगवान की महिमा सुनाता कहता वेद पुराण जात जस गाय वेद पुराण वेद पुराण भी जिसका ये गाते हैं तो राम मुख का सुख पाए हो वही भगवान राम है वो जो परम परमात्मा है जिसकी महिमा से वेद गा रहे हैं समाज प्राण जिसके महिमा गाते हैं और वो परमात्मा ही भगवान राम है उनका विरोध करने वाला भगवान राम का विरोध करने वाला संसार में आज तक कोई सुखी नहीं हुआ है इसलिए तुम उनसे पैर करना चाहिए भ्राता सहित मधु कई का बलवा के जय मारे इन्हीं ने हिरण्याक्ष भ्राता सहित मार दिया हिरण्याक्ष जो भाई शक्तिशाली निशाचर हुए उनको इन्हीं ने भगवान नहीं मारा है और मध और कैसे बड़े बलवान हुए हैं पांच हजार वर्ष तक इनके लिए धोता रहा भगवान के आखिरकार भगवान ने उनको भी मार दिया है ऐसे ऐसे निशास्त्रों को बड़े बड़े सत्यशाली हुए हैं सबको तो ऐसे निशास्त्रों के भगवान ने मार दिया तो उनके सामने कितने तुम्हारी कोई विशेष शक्ति नहीं ऐसे करके उसने रावण को रावण को समझाता है कि कई अवतारी उनके पास इंद्र भगवान उन्हीं ने अवतार दिया उसी सत्यकाली भगवान परमात्मा ने अवतार लिया है और ये कृपा सिंधु ने कृपा से तो अवतार कर देते हैं भी कृपा करने के लिए अवतार ये निशाचर वैसे अपने निशाचरी वृत्ति से कभी छुटकारा नहीं पा सकते तो भगवान उनके ऊपर कृपा करने के लिए अपने जिससे की उनको मारे और उनका उद्धार को भी मार करके भगवान ने उनका उद्धार किया आप राणा कश्यप को भी मार करके उनका उद्धार किया बस वही आए वो भी सबको छोड़ेंगे नहीं तुम मारे जाओगे ऐसे करके भगवान उसको जो है जामान मानने माध्यवंत ने इनको समझाया अब देखो जैसे इधर माध्यवान है उसी तरह भगवान के पास साथ में जामान उनका नाम जामवंत है और इनका नाम माध्यवंत है और दोनों वृद्ध है हम्म। और दोनों ही मंत्री है जामवंत भी भगवान राम को मंत्रणा देते हैं भगवान राम से पूछते हैं उनको राय देते हैं इधर माधवंत रावण को राय देता है लेकिन जामवंत की बात भगवान मानते हैं और जामवंत राय भी उचित ही राय देता है भगवान राम जामंत की बात को मानते हैं लेकिन मान मंत्र भी सही राय रावण को देता है अपने वृद्ध होने के नाते ज्ञान के कारण से राय छी देता है लेकिन रावण उसको नहीं मानता रावण अहंकारी है राय पूछता भी है लेकिन मानता नहीं ये तो कहे तो बताओ क्या करना चाहिए हाँ? अरे जब आप तो किसी की पूछ तुम्हें तो करने सुन नहीं है किसी की मनमानी करनी है तो राय पूछने से क्या होता है राय पूछता है वो रावण